आप्यायन्तु ममानानि वाक्यानिश्चक्षुस्तोत्रमन्यानि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् मानम् उपनिषत्मास्ते ओम शांति शांति तलगार शाखीय केवलपनिषद अवतर भाष्य में वाक्य भाष्य के ऊपर विचार कर रहा था विचार ये था कर्म तब तक करेगा जब तक अंतकर्म की शुद्धि नहीं होती अंतकर्म की शुद्धि होने पर कर्म को त्याग देगा एक प्रसंग चलता है कर्म अनावश्यक भी नहीं है आवश्यक भी नहीं ज्ञान होने के बाद आवश्यकता नहीं उसकी किंतु पहले आवश्यकता है ये भाष्यकार से करना चाहते हैं एक प्रसंग चल रहा है कर्म की आवश्यकता है ज्ञान से पहले अपने बड़ा संबंधित निष्काम भाव से कर्म की आवश्यकता है प्रज्ञान के पश्चात आवश्यकता नहीं है यही सिद्ध करना चाह रहे हैं तो यहां पर शंका होती है पूर्वादि शंका करता है आरम्भ चेत न निष्काम से संस्कार भाषण होता है इसमें जो संग्रह वाक्य इसकी व्याख्या आगे करेंगे तो संग्रह वाक्य है तो आधा पंक्ति और पूर्व पक्ष का है आधा पक्ष आधा पंक्ति आदि सिद्धांत दोष है जब महाराज कर्म त्यागने को कहते हैं ज्ञान हो जाए तो कर्म त्यागना है ऐसा आप कहते हो तो फिर क्यों करना पहले करना बाद में त्यागना इसके अपेक्षा न करना ही अच्छा होगा कर्म आरंभ से कर्म का आरंभ ही नहीं करना अच्छा होगा इससे न ये भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता अज्ञानी दो प्रकार के अज्ञानी हैं एक मुमुक्षु वो भी अज्ञानी है ज्ञान नहीं हुआ और एक बुभुक्षु है तो बुभुक्षु कर्म करेगा सकाम कर्म करेगा संसार प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति के लिए कर्म करेगा और मुमुक्षु कर्म करेगा अंतकर्म सिद्धि के लिए करेगा तो निष्काम भाव से करेगा निष्काम भाव का परिणाम भगवान परमेश्वर अंतकर्म के साफ कर देते हैं आपके बर्तन को धो देते हैं अगर निष्काम भाव से कर्म कर सके आप जब बर्तन धुल जाए तो फिर तत्वमसी आदि जो बीज बोया जाए उसमें फिर ठीक ठीक बैठे ये स्थिति है तो कर्म अनारंभ से न कर्म का आरंभ ही नहीं करना अच्छा होगा ये पूर्वादि करता है जब बाद में त्यागना है तो क्यों करना उसको न सिद्धांत कहते न निष्काम से संस्कार तो निष्काम कर्म है ना वो संस्कार के लिए निष्काम व्यक्ति के अंतर्गत सिद्धि के साधन है वो कर्म संस्कार के लिए है लोकांतर फल नहीं देगा अंतकर्म की शुद्धि करेगा कर्म की आवश्यकता है कर्म उपासना साथ में है ये कहा और पक्ष जो कर्म आरम्भ इसकी व्याख्या करेंगे यहाँ संग्रह वाक्य और विवरण वाक्य दो तरह से चलता है वाक्य राष्ट्र अव्याख्या संक्षेप में बोल दिया कर्म आरंभ चेत न निष्काम से संस्कार तत्व ये संग्रह वाक्य संक्षेप में बोला इसके आगे व्याख्या है पूर्वादि का कहना है यदि ही आत्मविज्ञान आत्मा अविद्या विषयवाद परिमित्यादिशितम कर्म तथा प्रक्षालनाधिपंक दीपंक स्पर्शन परमिति अनारंभ एवं कर्म श्रेयाम अल्पफलवा आयास बहुलत्वाद तत्व ज्ञान श्रेय प्राप्त चेत सत्यम सत्यम सिद्धांत का होगा यहां तक पूर्वादि का भाष्य है कर्म में विजेती यहां तक भाष्य है पूर्वाणी का कहना है यदि ही आत्मविज्ञान है आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान के द्वारा जो आत्मा के अविद्या है आत्मा का अज्ञान है आत्मा विद्या विषय आत्मा के अज्ञान का विषय होने से कर्म तब तक करना है आत्मा के तब तक अज्ञान रहेगा आत्मा के अविद्या होने अज्ञान का विषय होने से परित्यादि विषदम कर्म श्रुति को यही अविष्ट है कर्म को परित्यक्त करवाना अविष्ट है आत्मा के अविद्या आत्मा के अज्ञान के आत्मा के जो अविद्या है उसके विषय होने के कारण कर्म को परित्याग करवाना सिर्फ को इष्ट है तथा तब तो यही अच्छा होगा कि कीचड़ में जाना बाद में स्नान करना मैंने पहले कर्म करना फिर बाद में त्यागना इसकी अपेक्षा यही अच्छा होगा कि कर्म न करे ये कहा वृक्षावरण अधिकम से ये युक्ति है मैंने कीचड़ में स्नान करने के बाद ये कीचड़ लगाने के बाद स्नान करने की अपेक्षा कीचड़ में जाए तो स्नान से बच जाए कम से कम तो कर्म करे ही नहीं बाद में त्याग ना तो क्यों करे ये पूर्वादि का कहना है यदि अनारंभ हो कर्म कर्म का आरंभ ही नहीं करना अच्छा होगा जब ज्ञान होने पर कर्म को त्यागना है और पहले करना बाद में त्यागना तो ये तो कीचड़ पहले कीचड़ लगाना फिर स्नान करने के तरह हो गया उसको धुलने के लिए तो इसलिए और एक तो कर्म अनारंभ एवं श्रेयाम कर्म है वही अच्छा होगा कल्याण वही होगा कर्म का आरंभ ही न करे कर्म करे ही नहीं सीधा ज्ञान में बैठ जाए ये अच्छा होगा ये पूर्वाधिक दूसरी बात अल्प फलत्व कर्म का फल अल्प फल है ज्ञान का फल महान है कर्म तो स्वर्गादि देगा ज्ञान मोक्ष देगा इसलिए ज्ञान में बैठना अच्छा होगा कर्म को त्यागने अच्छा होगा और आयास बहुत तीसरा हेतु देता है कर्म करना इतना सरल नहीं है बहुत परिश्रम है बहुत कष्ट है बहुत परिश्रम है सुबह सुबह स्नान करो नदी में स्नान करो गायत्री जपो ये करो वो करो हाँ कितना कर्म कहाँ से सुबह से लेकर शाम तक कर्म करो आयास बहुत है परिश्रम बहुत है कर्म के लिए एक तो श्रेय है त्याग नहीं अच्छा होगा क्योंकि एक तो अल्प फल होगा कर्म का फल अल्प है ज्ञान का फल महान है और दूसरी बात आयास बहुत है परिश्रम बहुत है कर्म करने के लिए इसलिए तत्व ज्ञान आदि में श्रेय प्राप्त है और तत्व ज्ञान से इसलिए कल्याण की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होना है इसलिए कर्म त्याग नहीं अच्छा होगा ये पूर्वाद की शंका उठाई यदि चेत ऐसा कहे तो सिद्धांत की ओर से बोलते सत्यम ठीक है ठीक है आधा स्वीकार है आपका कहना ठीक है ठीक है चलिए टिप्पणियां देखिए दो नंबर टिप्पणी तीन नंबर चार नंबर दो नंबर कहा सूत्रम क्या करोगी सूत्र मैंने संक्षेप में जो कहा था परमा अनारंभिक से एक संक्षेप था सूत्र का अर्थ यह है तो व्याकरण का सूत्र में लेना संग्रह वाक्य था उसी की व्याख्या करते हैं कहा यदि आत्मविज्ञान है ना आत्मा अविद्या विषय ये कर्म जो है आत्मा के अविद्या का विषय मैंने आत्मा के अज्ञान का विषय है जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक करना है कर्म को देख करना है दो नंबर टिप्पणी या तीन नंबर टिप्पणी अविद्या विषय पद मतलब कार्य अविद्या का कार्य है कर्म जब तक अज्ञान है तब तक कर्म करना है कार्य से आया अच्छा आगे चार नंबर को सत्यम करके कहते हैं सूत्र समाधानांशम विवृत सूत्र मैंने संक्षेप के कहा था क्या कहा था कर्मार ये पूर्वाधिक का था हाँ निष्काम से संस्कार अर्थवा वो सूत्र वाक्य है संक्षेप में है उसको व्याख्या करना चाहते हैं भाष्यकार सिद्धांति की तरफ का व्याख्या उसी का व्याख्या करना चाहते हैं कहा सत्यम का ठीक है आपका कर्म कर्म को त्यागना है पहले करना भी है बाद में त्यागना भी है किंतु सत्य ठीक है किंतु एतद अविद्या विषय कर्म ये जो अज्ञान का विषय जो कर्म है ये तब कर्म यह जो कर्म कैसे अज्ञान जब तक है तब तक है कर्म अज्ञान का विषय जो कर्म है अल्प फलत्वाद दोषवत बंद रूपम से सकाम से अल्प फलत्वादी दोष वाला है कर्म इसके लिए जो सकाम व्यक्ति होगा उसके कर्म का फल चाहता हो तो उसके लिए ये कर्म ऐसा हो जाता है उसके लिए बंधरूप होगा बंधन का कारण होगा माने बंधन ये आगे शरीर देने वाला होगा चाहे देवादी शरीर मिले चाहे कोई भी शरीर मिले कर्म का फल भोगने के लिए शरीर लेने पड़ेगा ये बंधन का कारण होगा सकाम व्यक्ति के लिए कर्म बंधन का कारण होगा क्योंकि उसके बारे में कामी व्यक्ति के बारे में कहा है कि कामान या काम है देह कामान विषयों को जो कामना करता है चाहता है काम शब्द कभी इच्छा में प्रयुक्त होता है काम कभी विषयों में प्रयुक्त होता है या कामान यह काम है कामान द्वितियां जो है विषयों को जो विषयों को चाहता है स्वर्ग आदि विषयों को चाह रहा है इसलिए कर्म करता है कामान यह काम रहते पांच नंबर की टिप्पणी अर्थ पूरा कर देते हैं पांच नंबर की टिप्पणी कामान यह काम रहते मन्य माना ऐसा जो मानता है ये परिषद का वाक्य है कामान या काम है थे मन्यमान कामान मन्यमान काम काम को चाहना वा, चाहने वाला व्यक्ति तो काम भी चाहे थे तत्व तत्व वो वो व्यक्ति जो है जो कामना को विषय इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कामना के कारण उनकी इच्छा के कारण क्या वहीं वहीं जाना पड़ेगा स्वर्ग की इच्छा से कर्म करेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा हाँ जैसे कर्म करेगा ऐसे ज्ञान पड़ेगा उसको मुंडक ने कहा मुंडक उपनिषद की बात यह है ये बता दिया अच्छा कामान है काम है और वृद्धारी आया इति को वहां बस इतना ही है जो तो। विषय को चाहने वालों के लिए इतना ही फल है करके बता दिया वृद्धारण सारा सारी चर्चा पहले कर दी जाया विषय अक्षर करके आरंभ किया और अंत में जाकर इति काम है वहां बस इतना ही फल है जो विषय को चाहने वालों का फल इतना ऐसा होता है इसमें भी टिप्पणी है छह नंबर की छह नंबर इतनों काम यमान एवं इस प्रकार वहां पर आया है में क्या आया तदेव सत्ता सहकर्मय इत्यादि में उत्तर किया हाँ। तदेव सत्ता सहकर्मय मैंने कर्म के साथ जिसमें आसक्त होकर के कर्म किया था उसी को प्राप्त होगा आगे जाकर जिस विषय की इच्छा लेकर के कर्म किया है सकाम व्यक्ति ने तो वही बनेगा वो ये कहा हुआ है तो वहां पर वृद्धार्य में कहा नो काम है मानव जना इत्यादि कहा है तो अवश्य जो कामना करने वाला व्यक्ति मानी विश्व को चाहने वाला व्यक्ति जितने भी हैं क्या होता है संसरती इत्यादि वो संसार को ही प्राप्त होगा कर्म करेगा फल भोगेगा ऐसे चलता रहेगा फिर आएगा कर्म करने के लिए फिर कर्म करेगा फिर फल भोगेगा फिर आएगा कर्म तो यही होना है तो उसको कहा तथा ही तत्व तो ये विचार में कहा हुआ है क्या कहा है तदेव सत्य सकर्म है लिंगम मनोयत्न निषत्तमस्य प्राप्तम कर्मणस्त अत्यंत प्रवृत्तय तस्मात लोकात्मवेति अस्मय लोकाय कर्म है यदि मुकामय मानो अथ अकाम यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न दश कामा उत्क्रामती ब्रह्म संक्रमा देवी इति तो को कामयमान मैंने कर्मी की चर्चा पूरी की है उसके बाद जो आत्मकाम व्यक्ति है आत्मा को चाहने वालों की चर्चा करना है ज्ञानी की चर्चा करना है आगे ये बोलना चाहते हैं कि क्या होता है वेदाग लगाए जो कामना से कर्म करने वाले को तदेव सप्ताह सहकर्म यदि उसमें जो आसक्त होकर के कर्म के द्वारा कर्म करता है वो लिंगम मनो या निष्कर्म अश्य लिंग शरीर माने सूक्ष्म जो मन है जिसमें आसक्त हो गया है जिस कर्म के लिए वो उसी को प्राप्त होगा उसी स्थान मिलेगा उसको ये भी कहा है और कहा प्राप्त्यानंदम कर्म स्तस्य जो कर्म करके वहां गया था उसको अंत होगा ये दिन छिड़े पुण्य मतलब मिशन प्रसिद्ध है गीता में प्राप्त्या अंतम कर्म तस्य कर्म अंतम प्राप्य उस कर्म का अंत प्राप्त करके फल भोगने के पश्चात यदि किंचय करो जो कुछ भी किया था इसने वहां जाने के बाद समाप्त हो जाएगा स्वर्गादि जो है ना एक होटल जैसा है कमाया और विश्राम दिया आनंद लिया फिर दूसरे दिन भागो वापस जब तक जेब में पैसा है बैठो जेब में पैसा खत्म वापस आओ तो प्राप्यांतम कर्मस्त यज्ञ करो के उस कर्म का अंत प्राप्त होना में फल समाप्त होने पर जो कुछ भी यहां करता है तस्मात लोग पुनर्ति उस लोग से फिर आता है ये दिन अति आता वापस आता है क्यों अस्मयी लोग आए कर्म इस लोक में आता है क्यों आता है कर्म करने के लिए कर्म करने के लिए आता है कर्म को तो यही होना है और फल भोगने के लिए जाएगा फिर फल समाप्त होते फिर आएगा ऐसी स्थिति है पंचदशी में विद्यानंद स्वामी ने कहा है कुरुते कर्म भोगा कर्म कर्म तुम तो भुंजते नद्यास्तीर नद्या कीट युवा आवर्त आवर्तान कर्मास्ते विद्यानंद स्वामी जी बोलते हैं पंचदशी में कहते हैं जो जीवों की गति कैसी होती है कहते हैं कि जैसे एक कीड़ा है किसी अज्ञान के कारण नदी में पड़ गया अंजाम में नदी में पड़ गया नदी में पड़ गया तो नदी में पड़ने पर क्या होता है उसकी गति कैसी हो जाती है एक भंवर में घूमता रहेगा घूमता घूमता घूमता वो भंवर से फिर दूसरे भंवर पर पहुंचेगा फिर घूमते घूमते तीसरे में पहुंचेगा तो चलता ही रहेगा ऐसी स्थिति में पहुंचेगा फिर उसकी कैसे वहां से मुक्ति होगी कोई करुणा करवाड़ व्यक्ति वहां पहुंच जाए कोई व्यक्ति उसको दया आ जाए तो वहां से उठा करके बाहर कर देगा तो फिर पेड़ के छाया में विश्राम लेकर के आनंद से रहेगा वैसे सारे जीवों की चर्चा है ऐसे के कर्म भोग आया ये जीव जो है ना कर्म क्यों करता है भोग करने के कर्म इसलिए करता है भोग करने के लिए आदि फल सुना हुआ है उसके लिए कर्म करता और कर्म तो हैं से भूल जाते और भोग क्यों करता है भोग समाप्त हो फिर कर्म करना है उसको माने खाने के लिए जीता है जीने के लिए खाता है ऐसे चलता रहेगा एक मजदूर को आप पूछे काम क्यों करते हो तो क्या उत्तर देगा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या खाते क्यों वो पूछना कहते खाएंगे ना तो काम कैसे करेंगे काम करता है खाने के लिए और खाता है काम करेंगे वही सबकी स्थिति है कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम से नद्या कीट विवाह होता नदी में पड़ा हुआ कीट के समान आवर्तांतर मासुते संसार में ही चक्कर में पड़ता रहे संसार से बाहर नहीं जा सकता उस स्थिति में कोई दयालु गुरु मिल जाए उसको इस कर्म से छुड़ाने के लिए कोई मिल जाए आत्मज्ञान का बोध करा दे जैसे कोई व्यक्ति ने उठा करके कीड़े को बाहर कर दिया तो शांति से पेड़ के नीचे बैठ पाया उसी प्रकार कोई उपदेश का मिल जाए इसे तो ब्रह्मनिष्ठ ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति मिल जाए तो उसके परिणाम यह होगा फिर उसको ध्यान से पार होने की गति होगी ये बताया हुआ है तो वृद्धार्थ इतना कहने के बाद कहा इसी में आता है उसके पश्चात कहा ये इति नु कामय मान बस कामना करने वालों का ये फल है जो विषय चाहने वालों का फल इतना ही है मैं जाओ आओ जाओ आओ करता रहेगा किंतु आगे बोलते हैं उसी देवता भी कहते हैं अथा अकामय मान हाँ जो कर्म फल नहीं चाहने वाला व्यक्ति है वो जो अकाम जो अकाम है कर्मफल की इच्छा नहीं है जिसको निष्काम निष्काम है आप तक हम उसको कुछ चाहिए ही नहीं सारे कामना इच्छाएं पूरी हो गई सब कुछ मिल गया हम प्रकाश भाव में भी पहुंच जाए तो उसको क्या चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए जो कुछ चाहिए जब तक ये शरीर में बैठे हैं तब तक चाहिए शरीर के लिए चाहिए और हम अपने लिए समझते हैं जो भी चाहिए शरीर के लिए हम असली में हैं नंदा अद्भुत बाबा हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए वास्तविक स्थिति ऐसी हमारी हमारा जो स्वरूप है आत्मा जो कुछ चाहिए शरीर को चाहिए तो वो निष्काम है काम है पूरा संपूर्ण काम है जिसको मिले काम आत्मा को चाहता है कोई संसार के विषय नहीं चाहता ऐसा जो व्यक्ति है न तस्काम उत्क्राम तो उसको कोई योगांतर जाना नहीं पड़ता तो आत्मज्ञानी हो गया न तस् प्राण दे उसके प्राण इंद्रिया आदि यहां से निकलते ही नहीं फिर कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मा के वो तो ब्रह्म रूप होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है पहले से ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है बाद में भी वो ब्रह्मरूपी हो जाता है ऐसे ही दृढ़ जैसे बताया तस्य तो संस्कार धाम ये हो अच्छा ये भाष्य में कह रहे थे काम कामदेव काम एवं इत्यादि न निष्काम से निष्काम के लिए स्वर्गादि फल देने वाले नहीं होते हैं कर्म वो तो अंतगम शुद्धि के साधन ने कहा पश्चतु भाषण में कहा उस निष्काम व्यक्ति के लिए तो क्या होगा संस्कार काम कर्माणी भवन भी जो भी कर्म है आश्रम विहित कर्म जो करता है वो संस्कार के लिए होगा अंतगम शुद्धि के लिए होगा अंतगम शुद्धि के साधन बनेंगे हाँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कर्म की आवश्यकता नहीं है नदी पार होने के पश्चात नाव नौके की जरूरत नहीं है क्योंकि नदी पार होने के लिए जरूरत है ज्ञान हो जाए ज्ञान रूपी दीपक जल जाए तब तो कर्म की आवश्यकता नहीं यही कर्म की जो निंदा करते हैं उस काल में पहले कर्म की प्रशंसा है हाँ, जो निष्काम कर्म की प्रशंसा है उसके बिना अंतकर्म की सिद्धि नहीं होती एक तस् तुम्हारे वो जो निष्काम व्यक्ति है उसको तो संस्कार था ये तो कर्म हानि भवन कर्म जो होते हैं संस्कार के लिए मैंने क्या संस्कार अंतकर्म की सिद्धि के लिए टिप्पणी सात आठ तस्व संस्कार धाम ये कर्माणी होंगे तथा अज्ञ से आदि निष्काम से अज्ञानी दो प्रकार के देखना एक सकामी अज्ञानी है और निष्काम अज्ञानी मुमुक्षु भी अज्ञानी है विज्ञान हुआ नहीं उसको तो मैंने एकदम घोर अज्ञान नहीं है कुछ अज्ञान तो उसमें है मुमुक्षु में हल्का अज्ञान है तो अज्ञ से आप निष्काम से अज्ञानी होने पर भी निष्काम है निष्काम भाव से कर्म मुमुक्ष हो वो मुमुक्षु होगा है तो अज्ञान अवस्था में अभिज्ञान नहीं होगा अज्ञान ही है ज्ञान नहीं हुआ मुमुक्ष आत्म संस्कार अभी छोड़ा आत्मा मैंने अंत करण आत्मा मैंने आत्मा ने आत्मा को कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं वो तो शुद्ध शुद्ध है आत्म संस्कार कहा संस्कार में इच्छो आत्मा के संस्कार की इच्छा चाहने वाला मैंने आत्मा मैंने अंतकरण मन की संस्कार चाहता है उसको अनुष्ठान ऐसे अनुष्ठान करने वाले का संभव ऐसे संभव है निष्काम कर्म करने वाले के व्यक्ति के संभावना है कौन करेगा मुमुक्षु करेगा मैंने अंतगम शुद्धि के लिए इसलिए कर्म त्याज्य भी नहीं है ये कर्म चाहता पूर्वाज ने कहा था पहले कर्म करना बाद में त्यागना है तो कीचड़ में कीचड़ लगाना फिर नहाने की अपेक्षा पहले से छोड़ दो अच्छा होता कहा कहते नहीं नहीं उसके अधिकारी है कर्म के अधिकारी का मुमुक्षु है निष्काम कर्म के अधिकारी है इसलिए कर्म त्यागना भी नहीं है संभव न अनुष्ठान प्रसंग कर्म के अनुष्ठान की प्रसक्ति नहीं होगी कर्म करेगा चाहे कर्म के अनुष्ठान होगा व्यक्ति है यदि युक्त एवं अभी तो हेतु हेतु भाव समझे जो हमने बताया था कर्म में कर्म कांड में ज्ञान कांड में क्या संबंध है कार्य का भाव संबंध है हेतु हेतु भाव हेतु माने कारण हेतु मन माने कार्य कार्य का भाव संबंध है जो कहा वो सही नहीं था ठीक है ये बताया आत्मजा संस्कार प्रार्थना ये तो आत्म संस्कार के लिए है संस्कार आत्मा मैंने तथा से अज्ञान निष्काम प्रति अज्ञानी दो प्रकार के ध्यान देना एक सकामी अज्ञानी होगा एक निष्काम अज्ञानी अभी ज्ञान उसको भी नहीं हुआ है किंतु एक तो घोर अंधेरे में है मान विषयों में लोड़ है एक विषय को तो ज्यादा हुआ है किंतु ज्ञान को अभी हुआ नहीं ऐसा है अज्ञान निष्काम प्रति जो अज्ञानी हो निष्काम अज्ञानी हो सकाम नहीं उसके प्रति प्रत्यति कर्मणाम साफल्य उसके लिए तो भी तो कर्म सफल हो गया ना अंतर्गत शुद्धि के साधन हो गए कर्म इसलिए न पंक प्रक्षारण में आया अवकाश ये सिद्धांत करते तुमने जो पंक प्रक्षारण युक्ति दी थी हाँ प्रक्षारण आदि पंक से दुराज स्पर्श नंबर में जो कहा था ये ठीक नहीं है ये नीति शास्त्र का श्लोक है नीति शास्त्र है धर्मार्थम यश विदेहा निरीहम तरवर निरीहम अति प्रक्षारण आदि पंख से दुरात स्पर्श नंबर ऐसा कहा माने किसी व्यक्ति की इच्छा होती है मुझे धन मैं चंदा करूं धन इकट्ठा करूं उसके बाद धर्म करूं धर्म करने की इच्छा से धन एकत्रित करता है मैंने गौ भोगने की इच्छा नहीं है धर्म करने की इच्छा है तो कहते धर्मार्थम ऐसे भी वित्ते अगर गौ भोगने की इच्छा से कर्म धन कमाता है तो वो तो वो दूर की बात मैंने धन की इच्छा रखता है धर्म करने के लिए धन मिले तो धन धर्म करो इसलिए चंदा करता है उधर करता है यदि करता हो कहते निरीहम अति तद बलम उसकी अपेक्षा चेष्टा रहित तो होने अच्छा किसी से लेना नहीं क्यों धर्म करने के लिए क्या करना है आपका उपभोग करना है किसी से मांग दिलाना और किसी को देना है यज्ञादि करके तो ब्राह्मणों को देना है वो तो इसके अच्छा वहां से लेना यहां देने के बच्चा लोही नहीं तो चुपचाप रहो वही अच्छा यही है प्रक्षालन आदि पंकज से दुरादास स्पर्शन वरम मान जाओ घर घर में जाके चंदा करो बाद में फिर दे दो तो इसके फिर चंदा मत करो यही अच्छा है ये सुरक्षा का तात्पर्य है यहाँ पर कर्म में लगाया हुआ है तो यह अज्ञम निष्काम पृथ्वी कर्म साफल्य न पंक प्रक्षालन न्याय अवकाश एक कहा पंक प्रक्षालन न्याय नहीं लगे युक्ति नहीं लगेगी यहाँ तुम कर्म का अधिकारी है दिव्यम प्रतीतु तत्व्यादि रहस्य हाँ यदि ज्ञानी है वो ज्ञान हो चुका है उसके लिए तो त्यगवाना ही इष्ट है स्मृति ज्ञानी को कर्म नहीं कराएगी स्मृति कभी भी नहीं कर्म की जहां जहां निंदा की है काम्य कर्म की निंदा की है ज्ञानोत्तर कर्म की आवश्यकता नहीं है अगर आत्मज्ञान हो गया क्यों कर्म होता है अभिमान पूर्वक कर्म होता है मैं अमुक जाति का हूं और मेरे लिए कर्तव्य है हम देहाभिमान रहेगा तभी कर्म कर पाएगा ज्ञान होता है शरीर सदैवाभिमान को बात कर इसे ज्ञानी कर्म कर ही नहीं सकता उस काल में कर्म होना संभव भी नहीं है वो शरीर से अपने को अलग मान करके बैठा हुआ है और कहाँ कर्म करेगा जब तक शरीर में तादाद में होगा मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ आदि आदि भावना होगी तभी कर्म करने लगेगा नहीं तो कर्म नहीं कर सकता ज्ञान ज्ञानोत्तर कर्म नहीं हो सकता उसके पहले आवश्यक है आवश्यकता है अच्छा आगे भाष्य में देखिए तम निर्वर्त का अर्थ है ब्रह्म विज्ञान सहितानी खाली कर्म ही नहीं है मुमुक्षों के लिए कर्म नहीं है कर्म का संपादन करने वाला कौन है उनका आश्रय जुगुत प्राण प्राण की उपासना सहित कर्म अपेक्षा है निष्काम व्यक्ति के लिए अपेक्षा है अंतर्वस्थ के लिए कहा इसी बात को चर्चा उठाई है नारायण परिषद में देवयानी श्रेयाम आप्यादी वादी उपरना कहते देवता के पूजन करने वाला बड़ा होता है या आत्मा की पूजा करने वाला बड़ा होता है ऐसा प्रश्न होता है श्रुति में देवी देवताओं को यजन करना जिसको स्वभाव बन गया उसको देवी आजी बोलेंगे और आत्मा का पूजन करने के जिसका स्वभाव बन गया उसको आत्मयाजी बोलेंगे देवयादी श्रेयाम आत्मयादी वा मन देवताओं की पूजा श्रेष्ठ है क्या आत्मा की पूजा करने वालों की श्रेष्ठ है ऐसा प्रश्न उठा करके आदित्य उपक्रम ऐसा आरंभ करके आत्मयादित्य करो भी ऐसा है वास्तव में कर्म करता है कौन आत्मयादी आत्मा में पूजा करने वाला व्यक्ति वास्तविक पूजा करने वाला है ऐसा कहा मैंने दोनों की तुलना करने के पश्चात एक कहा क्यों जो देवयादी माने यहां पर है काम्य कर्म करने वाला व्यक्ति और आत्मयादी है आत्मा आत्माकार व्यक्ति में रहने वाला व्यक्ति कर्म तो करता है वो भी या आत्मयादि माने निष्काम कर्म करने वाले को आत्मयादि शब्द से लिया हुआ है यहाँ और सकाम कर्म करने वाले को देवयादि शब्द से लिया है तो ये ये आरंभ करके कहा आत्मयादि को करोटी कहा आत्मयादि वास्तव में कर्म करता है कि क्यों कहते इदम दे अनेन अंगम संस्क्रिय उसके भावना ये होती है ये श्रुति वाक्य है मेरे अंगम इदम अंगम ये इदम अंगम है अंतकरणम अंग है अंतकरण मे इदम अंगम है मम अंतकरणम मेरे जो अंतकरण है अनेक संस्क्रिय थे इस कर्म के माध्यम से संस्कारित होगा इस उद्देश्य से कर्म करता है निष्काम व्यक्ति इस कर्म के माध्यम से मेरा अंतकरण शुद्ध होगा इस माध्यम से कर्म करता है निष्काम ये कहा संस्कारात्मक एक कर्माणी इतिबास नहीं वृद्धावित से बात है संस्कार के लिए कर्म होता है मैंने याद माने आपका प्राप्ति के साधन रूप में कर्म कर रहा है निष्काम कर्म करने वाले को आत्मयाजी कहा और सकाम कर्म करने वाले को देवयाजी बोला तो दोनों की तुलना में आत्मयाजी मैंने निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है उसकी भावना एक ही होती है इस कर्म के माध्यम से मेरा अंतकर्म शुद्ध हो जाए ये मनुस्मृति ने भी कहा इस बात बात को महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम प्रेते तनु ये मनुस्मृति की बात है महायज्ञ अश्वमेधादि बड़े बड़े यज्ञ होंगे और यज्ञ में सामान्य यज्ञ है अग्निहोत्रा यज्ञ के द्वारा यम तमो ब्राह्मी यम तमो ब्राह्मी प्रिय थे ब्रह्म ज्ञानाभम प्रिय थे इस तनु माने तम से उपलक्षित अंतकरण जो अंतकरण है क्या होगा ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के योग्य हो किया जाता है ऐसा कहा गया है और गीता के अठारह अध्याय में कहा है यज्ञ दान तपश्चर्य पावनान मनुष्यों यज्ञ दान तप ये तीनों जो है ना बड़े बड़े बुद्धिमान को भी पवित्र करने वाले हैं हाँ, यज्ञ दान तप तीनों करना चाहिए किंतु वृद्धारण सूर्य ने कहा तमेतम ब्राह्मण बिंदी संधि यज्ञ दान तपसा अनाश है नित्य होता है निष्काम भाव से होना चाहिए यज्ञ आपको और दान भी निष्काम भाव से होना चाहिए और तब भी निष्काम भाव से होना चाहिए सकाम भाव से नहीं जैसे दान तब करते थे सकाम भाव से ऐसा नहीं तो ये कहा ये क्यों आनंद तपस्या पावन निष्काम गीता के अष्टादश अध्याय में कहा हुआ एक बार इत्यादि स्मृत श्रुति भी है वृद्धागम श्रुति है आप में अभी बड़ा है कि ये देवयाजी बोला है मैंने देवयाजी मैंने सकाम कर्म का नहीं करता देवलोक चाहने वाला और आत्मयाजी मैंने अंतकर्म सिद्धि चाहने वाला कौन बड़ा है तो आत्मयाजी वास्तव में कर्म करता है करके को निर्णय दिया और इसमें भी कहा मनुष्य महायज्ञ यज्ञ यज्ञ सब ब्राह्मण प्रेतम बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा क्या करता है और ये ये तनु माने तनु से रहते हैं आत्मा आत्मा से अंतकर्म है ये आप ये अंतकर्म को ब्राह्मी बना देता है ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाते हैं याद है और गीता में कहा दान तपस्या पावन मनुष्य यज्ञ दान तप ऐसे पवित्र वस्तु हैं जो कि बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले इत्यादि प्रत्यक्ष ये कहा अच्छा ठीक है देखिए उत्पत्ति विधि विहितान कर्माम संस्कार प्रमाण अमीमांसा की तरफ जाकर के विचार करते हैं पूर्व मीमांसा में विधि चार प्रकार की विधि की चर्चा की है मीमांसा में ऐसा कहा है उत्पत्ति विधि विहितान कर्माम एक उत्पत्ति विधि होती है और एक विनियोग विधि होती है और एक अधिकार विधि होती है और एक प्रयोग विधि होती है चार प्रकार की विधि की चर्चा है मीमांसा वेदों में ये कहते हैं उत्पत्ति विधि विहित हम कर्मणाम संस्कार तमाम उत्पत्ति विधि विहित जो कर्म है उत्पत्ति विधि क्या है टिप्पणी से आपको जानकारी हो जाएगी तो वो जो कर्म है संस्कार अर्थ प्रणव संस्कार के लिए होते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए होते हैं उत्पत्ति विधि विहित जो कर्म होंगे अंतर संस्कार किसके अंतकर्म के अंतकरण की शुद्धि के लिए होते हैं इसको प्रमाण देते हैं देवयादि श्रेयान आत्मयादि वृत्तादि को प्रमाण दिया मैंने सकाम कर्म करने वाला है या निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है निष्काम कर्म है उत्पत्ति विधि वाला है ये दिखाना चाहिए टिप्पणी देखिए दो नंबर की टिप्पणी उत्पत्ति विधि इत्यादि विधि चतुर्विधा पूर्व मीमांसा में चर्चा है विधि चार प्रकार की विधि उत्पत्ति विधि नियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधि चार है विधियों का नाम चार है एक विधि है उत्पत्ति विधि और दूसरा है विनियोग विधि तीसरा है अधिकार विधि चौथा है प्रयोग विधि चार विधियां हैं उनमें से अभी यहां उत्पत्ति विधि की चर्चा करना है तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोल दो विधि उत्पत्ति विधि केवल फल आदि का कथन नहीं करता केवल कर्म का स्वरूप का ज्ञान करा दे जो विधि जैसे अग्निहोत्र विभोति ऐसा वाक्य आएगा तो कर्म का ही स्वरूप बताया वहां साधन भी कुछ बताया नहीं और फल भी नहीं बताया इसको कहते मजबूती उत्पत्ति विधि ये मानते हैं तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि तो कर्म स्वरूप पात्र का बोध कराएगा जो वाक्य ऐसा आएगा उस विधि वाक्य को कहेंगे उत्पत्ति विधि जैसे अत्र मात्र पदेगा उत्पत्ति विधि कर्म फलादिना सह संबंध बोध तुम भाग्य ये मात्र पद दिया कर्म स्वरूप मात्र बोधों को विधि ऐसा करने से क्या सिद्ध हुआ फलादि के साथ संबंध का निवारण किया जाता है फलादि के साथ संबंध नहीं ये नित्य कर्म को कहते उत्पत्ति विधि अग्निहोत्र जुहोती होती ये कारण चाहते सच अग्निहोत्र होगी इत्यादि रूप वो विधि वो उत्पत्ति विधि कैसा है उसका स्वरूप क्या है अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि स्वरूप उसमें फल का कथन भी नहीं है हाँ ये अग्निहोत्र करने से क्या फल पाए वो भी नहीं है कहानी अग्निहोत्र का स्वरूप बताना स्वरूप मात्र बोधक विधि वाक्य है अनुमोदन तो ऐसे विधि वाक्य को कहेंगे उत्पत्ति विधि और दूसरा है विनियोग विधि उसको बताना चाहते हैं अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि अंगांगी भाव का कथन करता हो वो वाक्य ऐसा आएगा अंग और अंगी गौण और प्रधान रूप से अंगांगी भाव का बोध कराने वाला जो विधि होगा उसको कहेंगे ये विनियोग विधि जैसे यथार्थ न जो होती या हवन करता है किससे हवन करता है दही से हवन करता है तो यहां पर हवन का साधन किसको पता है दही बदनाम तृतीयांग है और जो की हवन है तो यह अंग है दधी और अंगी है हवन अंगांगी को बता दिया फल इसमें भी नहीं बताया ये इसको कहेंगे विनियोग विधि माने उत्पत्ति विधि में विनियोग विधि में इतना अंतर है केवल कर्म के स्वरूप को बता देता है केवल वाच्य को कहेंगे उत्पत्ति विधि जैसे अभिभूतम होती और अंगांगी भाव का संबंध बताता है जो वाक्य उसको कहेंगे विनियोग विधि कितना फर्क है उत्पत्ति विधि में विनियोग विधि और कर्मजन्य फलस्वाम्य गौरव विधि अधिकार विधि अधिकार विधि उसका है कर्म जन्म जो फल है होगा उसके जो अधिपत्य होगा उसको बतलाने वाली विधि को ये अधिकार विधि कहते हैं जैसे स्वर्ग काम हो यजेत कामना है स्वर्ग की तो श्रुति बोलती है स्वर्ग चाहता है तो क्या कर यज्ञ कर तो फल के साथ संबंध कर दिया उस बात को यज्ञ का फल क्या पता है स्वर्ग पता है तो ऐसे विधि को अधिकार विधि बोलते हैं कर्मजन्य फलस्वाम्य बोल को विधि अधिकार विधि कर्मजन्य फलस्वाम्यम का अर्थ क्या है तो कहते कर्मजन्य फल होते कर्मजन्य फल का भोक्ता होना इसको अधिकार भी कहते हैं सचा ये देता स्वर्ग काम इत्यादि को भी ऐसा है ये देता स्वर्ग काम हाँ। स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति फल वही स्वर्ग है तो यज्ञ करे तो माने यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होगा उसको स्वर्ग मिलेगा यह अर्थ है इसको कहेंगे अधिकार विधि अब रह गया प्रयोग विधि प्रयोग प्राशुभाव पूर्व को विधि प्रयोग विधि कहते प्रयोग अवस्था में पहले चंदन चढ़ाना है कि अक्षत चढ़ाना है पहले माला चढ़ा दे बाद में चरण भय ऐसा करना है अथवा पहले माने या आसन पाद्य हरियाली करके करना है किस ढंग से करना है तो जो प्रयोग के लिए जो क्रम बताने वाले विधि को कहते हैं प्रयोग प्रयोग होता स्वभाव इसके पश्चात तुरंत यह करना इसके पश्चात तुरंत यह करना ऐसा जो विधि होगा उसको कहेंगे प्रयोग विधि कहा मीमांसा से कहा प्रयोग से एक कर्मता पन्ना अंग प्रधानात्मक कर्म संघात स्वभाव तो प्रयोग जब करेगा सारे का फल तो एक ही होगा एक ही कर्म में करेगा किसी देवता का आह्वान करेगा उसके बाद पूजन करने लग जाएगा मैंने चंदन अक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो भी करता रहेगा सबका फल एक ही होगा यही कहना चाहते हैं एक कर्म का अपंग एक ही कर्म को प्राप्त हुए अंग प्रधानात्मक कुछ अंग बने हुए तो प्रधान बने हुए हैं ऐसे जो कर्म का संघात समुदाय है उसको प्रासुभाव एक के पश्चात दूसरा दूसरे के पश्चात तीसरा तुरंत कर्म उत्तरोत्तर कर्म हो विलंब राहित माने पूर्व कर्म का उत्तर कर्म में विलंब नहीं होना चाहिए चंदन चढ़ाने के बाद अक्षर चढ़ाना चाहिए अक्षर के बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए इत्यादि इसको कहेंगे उसको बोध कराने वाले विधि को कहेंगे प्रयोग विधि सच प्रयोग विधि जैसे दस पूर्णमास याद और अनुयाद प्रयाग आदि प्रयोग विधि में आते हैं कहते हैं प्रयाग आदि अंग जाता वाक्य के वाक्य दाम आप अंग प्रयाग आदि अंग होते दस पूर्णमास याद के उसके साथ एक वाक्य प्राप्त हुआ दस पूर्णमास आभ्याम सर्वकाम वाक्य है इत्यादि प्रधान विधि रेखा ये प्रधान विधि है अयम से पूर्वोक्त विधि त्रय मिलनात्मक एवं महात्म अतिरिक्त ये जो प्रयोग विधि है ना प्रणाम जैसे दस पूर्णमाशा आप ये देता ये जो बोलते हैं स्वर्ग नामो दस पूर्णमाशा देता पूर्व के तीनों विधि का संभावना है उत्पत्ति विधि भी और प्रयोग विनियोग विधि भी अधिकार विधि का भी समावेश दिखाई पड़ता है अत्र विनियोग विधि उत्पत्ति विधाऊ एवं उपसर्जनी भवती जो विनियोग विधि है वो गौण हो जाता है उत्पत्ति विधि के अंतपाती हो जाता है अधिकार प्रयोग विधि फल संबंध है ना काम्यांतर भावात्म संस्कार इसमें से प्रयोग विधि और अधिकार विधि फल के साथ संबंध रखता है दस प्रमाशार्थम हाँ, स्वर्ग काम ये देता फल के साथ संबंध रखा स्वर्ग काम ये देते बाकी स्वर्ग के साथ फल के साथ संबंध रखा ये संस्कार के लिए नहीं होगा ये कर्म नहीं करेगा अंतकर्म शुद्धि करने वाला व्यक्ति उत्पत्ति विधि को जैसे अवगत होती यावत जीवा बंधु जुहियात है वो जो अग्निहोत्रादि कर्म है नित्य कर्म जो होते हैं यहाँ तो फल संबंध अभाव है फल संबंध का अभाव है उसके साथ इसलिए नित्यादि रूप है वो नित्य कर्म में आ जाते हैं वो ये नैवित्तिक कर्म है माने दर्श पूर्णवासी आ गए आदि नैवित्तिक कर्म है पूर्णवासी के दिन आ गए तो अमर करना है अमावासी आ गए तो करना प्रतिदिन नहीं करना है ये नैवित्तिक है क्योंकि नित्य कर्म होते हैं अग्निहोत्रा जो भी है इसलिए तब इसे कर्म तत्व उसे विहित कर्मों का क्या होगा संस्कार के लिए होंगे अंतकल शुद्धि के साधन में तो नित्य कर यही अर्थ आता है आगे ठीक है हमें देखिए फल कामया देवांगो यजते सकिन श्रेया उत आत्मशुद्ध स्वर्ग आदि आसन ये यजते आत्मयानी श्रेयाम ये प्रश्न हुआ वृद्धार मान फल की कामना से देवताओं की यज्ञ करेगा वो वो बड़ा है अथवा अंतकरण की शुद्धि के उद्देश्य करके जो कर्म करता है उसको आत्मयादी बोलते हैं वो श्रेष्ठ है ऐसा प्रश्न उठा करके प्रश्न कृतवा आत्मयादी श्रेयानी त्रिलोकम सतपथ है सतपथ ब्राह्मण जो हम वृद्धार पढ़ते हैं उसके पहले दो अध्याय बीत चुके हैं उसको सतपथ बोलते हैं सतपथ ब्राह्मण ऐसा कहा वृद्धार्ग मान है कामान उपघात सहित ये मम अंगम अनेक कर्म है ऐसा मान करके कर्म करता है वो जो विघ्न बाधाएं जितने भी हैं उनके उपघात नाश के सहित विनाश के सहित ये मम अंग अनेक कर्म है मेरा जो अंत कर्म है इस कर्म के माध्यम से संस्कारित होगा ऐसा मान करके कि संस्कार तत्व न करोगी न काम अवसर वो तो मन की शुद्धि के लिए कर्म करता है न कि काम के बस हो अधीन होकर के नहीं करता फल फल कामना से युक्त होकर नहीं करता यह होता है टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी तीन और चार तीन में कहा काम संबंध रहता हूं यथाशा तथा करो पर फल की इच्छा से रहित हो उस तरह से करता है यह है उसका और ममांगना है मम अंगम यदि अंगस्थम अंतकरण लक्षित कर दें अंग शब्द से भीतर में है ना अंतकरण उसकी शुद्धि करनी है भीतर अंतकर्म की शुद्धि के लिए है ऐसा आगे संस्कृत यदि संस्कार करते हैं ना कर्म करते संस्कार कुछ ही के लिए ही कर्म करता है न काम अवसर करता माने फल के अधीन होकर के कर्म नहीं करता वो श्रेष्ठ होता है ब्राह्मी महायज्ञ से यज्ञ सब ग्रामीण क्रियते तनु ऐसा आया था मनुस्मृति का श्लोक दिया था उसमें कहा ब्राह्मण माने ब्रह्म रहा ये हमारा तनु माने शरीर तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए ब्रह्म रहा बोल दिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो जाए क्या तनु माने क्या ले रहा है क्रियते तनु तनु तनु का अर्थ करना तनुष का आत्मा लक्षण है ये शरीर तनु माने शरीर होता है तनु में भीतर जो आत्मा है वो दिया जाए आत्मा माने अंतकरण का मन अंतकरण ये संस्कृत होता था आत्मा अंतकरण पात्र में कहा है आगे शंका है मनो प्राणादि उपासना प्राणादि भाव प्राप्त अर्थम प्राणादि की जो उपासना करेगा वो तो प्राणादि भाव हिरण्य गर्भादि की प्राप्ति के लिए होगा वो क्योंकि ऐसा कहा गया है क्या कहा गुरुवादी शंका कर रहा है तेनो एक देवता ही सायुज्यम सलोकताम जाएगी तेना ऊ ऐसा कर तेरा उपासना उस उपासना के द्वारा क्या करता ये तस्य ये बताए मैंने ये ष्ठी अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग है ये तस्या देवता ऐसा अर्थ करना इस देवता की जिस देवता की उपासना कर रहा प्राणी की उपासना कर रहा तो प्राण भाव को प्राप्त होगा साहित्य सलोकता जयती साहित्य भाव को प्राप्त करना अथवा सलोकता उस लोक में पहुंचने का काम करेगा ऐसे इति है ऐसा होने से पूर्वाधि शंका कर रहा है प्रथम उत्तम कर्म निर्वर्त का आश्रय प्राणोपासना सहिता कर्मा संस्कार यदि आपने भाष्य में शब्द कैसे बोल दिया कि कर्म का जो आश्रय भूल है कर्म संपादन जिससे हो पाएगा जब जिसके होने पर होता ऐसा कर्म का आश्रय स्वरूप तो प्राणोपासना सहित कर्म जितने भी हैं संस्कार के लिए होते कैसे कहा चलो कर्म तो सरकार के लिए होंगे उपासना कैसे ये शंका करी तब कहते हैं भाषण में प्राणादि विज्ञान से करेंगे टिप्पणियां देखे जाएंगे छह सात छह में कहते हैं तेरह तेरह का अर्थ तेरह आगे ऊ ऐसा करना ये कहते तेरह ऊ छह पौधे ऐसा करना तेरह है उपासना उस उपासना के द्वारा ये तस्य देवता ही क्या अर्थ करना ये तस्या देवता ष्टी अर्थ निकालना उसका इस देवता का मैंने प्राण की उपासना किया तो समस्त प्राण भाव होगा सायुक्यता अथवा सलोकताम गच्छति कहा है विराय जिसका नाम प्राण शब्द से कहा गया ऐसा देता है उसी को प्राप्त करेगा ये कहा तो कैसे मैंने उपासना भी अंतकर्म की शुद्धि के लिए कैसे कहा वो तो ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन होता है उपासना को ऐसे पूर्वक शिक्षण का हो गई तब भाष्य में बोलते हैं प्राणादि विज्ञान च केवल समुचित सकाम से प्राण प्राप्त प्राप्त्यर्थम भवती कहते हैं प्राणादि विज्ञान विज्ञान उपासना जो प्राण उपासना भी नहीं समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ इस भावना से उपासना करेगा यह भी केवल केवल उपासना अथवा कर्म समुचितम व अथवा कर्म सहित उपासना करता हो इस प्रकार का करता हो प्राण उपासना सकाम से प्राण प्राप्त होती सकाम के लिए तो सकाम व्यक्ति के लिए कोई प्राणभाव की प्राप्ति माना हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति के लिए होगा किंतु निष्काम से तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माण कई भगवती और निष्काम व्यक्ति जो करता है वही उपासना तो किसके लिए होगा आत्मज्ञान के जो प्रतिबंधक थे क्या थे विषय शक्ति एक प्रतिबंधक है आत्मज्ञान में जब तक विषय की आसक्ति है तब तक आत्मज्ञान होना संभव अपना स्वरूप को पहचान तो आत्मज्ञान में जो प्रतिबंधक है उसको निर्माष्ट ही मृत शुद्ध उसको शुद्धि करने के लिए प्रतिबंधक को शुद्धि करना है अंतर्गत शुद्ध करना है इसके लिए होता है ऐसा कहा गया है तो निर्माष्टयी में वृद्धि कैसे होगी कहते हैं निर्वास्तयी तीन वृद्धि चिंतिया टिप्पणी कहते हैं ये निर्वास्ती शब्द बनाया हुआ है मृदु शुद्ध धातु है स्त्रियां तीन से तीन प्रत्यय किया निरुप उपसर्ग है यहाँ निर्वृत तीन ऐसी स्थिति होगी वृद्ध शुद्ध तो धातु है उपसर्ग है और तीन प्रत्यय होगा स्त्रियाम तीन ऐसा सूत्र है जैसे गति मति आदि शब्द बनता है वैसे यहाँ माष्टि रहा है किंतु मृद धातु के लिए विशेष सूत्र आता है मृदेर वृद्धि ऐसा सूत्र आता है या चोड़ी तो आदि में सब उसी का वृत्ति सारे मृदेर वृद्धि मृद धातु को वृद्धि होगी बोलेगा वो वृद्धि किंतु यहाँ पर कित प्रत्यय पड़े हैं तीन तो जो है चित है कित तो होने पर किंग से सूत्र के द्वारा निषेध होना चाहिए वृत्ति की यही शंका उठा रहे हैं निर्माते ही भाष्यकार बोल चुके निर्मार्जन के लिए अंतकर्म को सफाई के लिए होता है कहा तो ये निर्माणते ही कैसे बात व्याकरण की दृष्टि से देखना चाह रहे हैं टिप्पणी में स्थिनी वृद्धि चिंता चिंतिया कहते किन प्रत्येक लगा हुआ है निर्वाष्टी शब्द है उसमें मृदु है तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए दृष्टि ही करना था मास्ते ही कैसे हो गया चिंतन यह हो गया कहते नए घटितम अनित्य परिभाषितम निषेधा निषेध अनित्यत्व आदाय उपवादनीय कथे अथवा नए घटितत्व अनित्यत्व ऐसा परिभाषा है जो नए घटित जो जो होंगे वो अनित्य होंगे वो अंत में क्वाचित तत्व तो होगा या नए घटित क्या है ये जो वृद्धि करने वाला सूत्र जो है एक निषेध करने वाला सूत्र कौन है ठीक ही दिशा ये निषेध करेगा तो वहां पर नया आया हुआ कहां से पूर्व सूत्र है न धातु लोग आधातु के अष्टाध्याय में देखेंगे न धातु लोग आधातु के उसके बाद तीन सूत्र है तो वो नया नए घटित हो जाता है एक दिन वहां नकार जो आता है न धातु लोग आधातु के सूत्र से आता है नकार तो नए घटित जो होता है अनित्य होता है तो इसलिए यह तीन कित होने पर भी गुण का निषेध नहीं कर पाए वृद्धि का निषेध नहीं कर पाए इसलिए वृद्धि हो गई यही समझना चाहिए ऐसा ये टिप्पणी का अच्छा। निर्माते भवती हो गया ठीक है देखिए विभिषा वाक्य ना विभिषा वाक्य वृद्धारे में आया हुआ है तमेतम ब्राह्मण विभिषंति यज्ञ न दान न तपसा नाशते ये विभिषा वाक्य बोलते हैं व्यक्तम विचार विभिषा उस आत्मतत्व की जानने की इच्छुक जो होंगे वो क्या करते हैं यज्ञ दान तप के द्वारा उसको जानना चाहते हैं ये साधन है यज्ञ दान तब किंतु तीनों का विशेषण लगा दिया अनाशके धाम निष्काम भाव से होना चाहिए कि बात तक सकाम नहीं तो अनाशके न पद सबके साधन में होगा तो विभिषा भाव के यज्ञादि उपलक्षित सर्वकर्म हुआ यज्ञ दान तब तीन को लिया हुआ है किंतु तो सारे कर्म जितने भी हैं सारे कर्म जितने भी हैं आत्मज्ञान और तत्व विनियुक्त विदिशा के द्वारा आत्मज्ञान के लिए भी उपयुक्त तो हुआ है सारे कर्म निष्काम भाव से करने पर अंधकर्म शुद्धि के साधन है वो सब आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त हो गया है और उपासना से और उपासना भी उसी के लिए है निष्काम भाव से उपासना करेंगे तो आत्मज्ञान के लिए होता है मानस कर्मत्व वो भी कर्म तत्वपाती होता है उपासना भी जो मानसिक कर्म है वो किसी देवता के चिंतन में हम डूबे रहते हैं वहां शारीरिक चेष्टा नहीं होगी तो मानसिक चेष्टा तो होती है उपासना में तो मानसिक कर्म होने से आत्मज्ञान प्रतिबंधक कलवश्य आत्मज्ञान जो प्रतिबंधक है कलवश विषय शक्ति कलवश में पाप जो विषय शक्ति है हाँ, ये जो विषय शक्ति है उसको निर्वहन द्वारा उसको विनाश के द्वारा क्या आत्मज्ञानार्थत्व सात आत्मज्ञान आत्मज्ञानार्थत्व सात आत्मज्ञान के लिए होंगे सारे कर्म यही वहां विविदिशा वाक्य के द्वारा ये सिद्ध करने कहा गिरफ्तार में तो विविदिशा वाक्य कैसी तो है तो आत्मवर टिप्पणी में कहा है तमेतम ब्राह्मणा विद्विशम भी यज्ञ दान के वाक्य यही विविदिशा वाक्य है आगे ब्रह्म होने वाले हैं इसलिए ब्राह्मण शब्द से बोल दिया गया जाति से जो ब्राह्मण है गौण ब्राह्मण होता है और ब्रह्म जानना ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति वो ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण होता है तो विदिशा भाग्य ये तमेतम तम एतम वो, वो जिस आत्मा की चर्चा हो रही थी उसी इस आत्मा को ब्राह्मणादिशन की जो मुख्य लोग उसको जानने की इच्छा करते हैं वेद तुम थी जब तुम थी विविधिशन थी जानने की इच्छा करते हैं क्या साधन से कहते हैं यज्ञ दान तपसा हासिल यज्ञ दान तप जो गीता के अठारह अंजल का हाँ। यज्ञोदान तपस्या पावन मनीषा ये वृद्धारण के तात्पर्य बताया हुआ है गीता का स्थापस अध्याय जो बताया है तो तमेकम उसी तत्व को उस आत्म तत्व को जिसकी चर्चा हो रही थी उसी को यहाँ विभिन्न संधि जानना चाहते हैं ब्राह्मण यज्ञ में दान में तपसा यज्ञ काम तप के द्वारा किंतु कैसा यज्ञ काम तप अनाशके नित्य होना चाहिए निष्काम होना चाहिए सकाम वाला तो नाशक वाला है यज्ञ करेंगे आप सकाम कुछ दिन के बाद फल समाप्त हो गया सब वो तो विनाशक है या अनाशक बोला हुआ है विशेषण है तीनों का नित्य कर्मादि के द्वारा अच्छा। आगे टीका में कहते हैं अज्ञात अज्ञाभिप्राय सप्रयोजनत्वाद तम प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रय नहीं उत्तम अभी तक ये चर्चा कर रहे थे पूर्वाज ने कहा था महाराज जब कर्म को त्यागना ही है तो फिर करना क्यों कीचड़ लगाना फिर स्नान करना इसकी अपेक्षा कीचड़ न लगाने में फायदा होगा स्नान नहीं करना पड़ेगा फायदा तो ये पूर्वादि की संख्या थी उसका खंडन आपने किया अज्ञानी को लेकर के जो कर्म का आपने कहा कि कर्म नहीं करना चाहिए वो तो आश्रय ना अज्ञानी कर्म करेगा करना पड़ेगा माने मुमुक्षु हो उसको भी करना पड़ेगा क्यों अंतकर्म शुद्धि के लिए करना पड़ेगा निष्काम भाव से करना होगा और बुभुक्षु तो करेगा ही करेगा तो बोलने की जरूरत ही नहीं है अच्छा अभिप्राय अज्ञानी के अभिप्राय से सब प्रयोजन प्रयोजन निकला क्या प्रयोजन निकला अंतकरण की शुद्धि की प्रयोजन निकले कर्म का सब प्रयोजन प्रयोजन सही तो थे सब प्रयोजन प्रयोजन के साथ कर्म को बताकर तम प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रय अज्ञानी के प्रति कर्म का अनारंभ करना चाहिए कर्म गुरुवाजी कहा था तो निराधार है आश्रयहीन है करना पड़ेगा कर्म जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये कहा उत्तम ये सिद्ध कर दिया भाष्य में अब ज्ञानी अभिप्राय ना यदि ज्ञानी के अभिप्राय से कर्म नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल इष्ट है अच्छा है ज्ञानी के अभिप्राय से कहा हो तो बिल्कुल सत्य है ये बोलना चाहते हैं ज्ञानी अभिप्राय है तो अनिष्ट आपार से आपार अनारंभ कर्म को जो अनिष्ट कहा था अनारंभ कर्म अनारंभ चेत ऐसा जो बोला वो इष्ट है हमारे लिए ज्ञानी को लेकर वास्तव में आत्मज्ञान में पहुंच गया जो व्यक्ति शरीर आदि से ऊपर के भाव में है स्त्री में पति विचरता को विधि को निषेध उस वाक्य में जो पहुंच चुका हो उसको लेकर के यदि कर्म हमारे में हमारे लिए इष्ट है हम ज्ञानी को कर्म कराने के लिए बोलते हैं एक ज्ञानी अभिप्राय तो अनिष्ट आपादन से जो आपका अनिष्ट का आपादन कथन था क्या था कर्म हमारे वह इष्ट आपादन रूपत्व हमारे लिए इष्ट है वो इसलिए प्रसंग से आभाष आभास सप्तम आहार को प्रसंग जो प्रसंग बताया कर्म आहार में ये आभास से कर्म ही नहीं ज्ञानी कर्म ही नहीं करेगा हो ही नहीं सकता उसे कर्म क्यों कर्म होने के लिए तब तक कर्म में अभिमान होना चाहिए कर्म करने के लिए आयु सभी अवस्था में एक ही कर्म नहीं किया जाता है बाल्य अवस्था के कर्म कुछ और यौवन की अवस्था कुछ और वृद्धावस्था के कर्म कुछ और है जाति घटित है कर्म मान जाति किसकी है जन्म शरीर का है तो शरीर को तादाद न करके मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं ऐसे ऐसी भावना करके कर्म करना होता है तो ज्ञानी जो तीनों शरीर आदि से ऊपर उठ चुका है कर्म करने का अधिकारी नहीं क्यों करेगा अगर तीनों शरीरों से ऊपर उठ चुका हो वहां कर्म होना संभव ही नहीं एक कहा आश्रय ही टिप्पणी निराधार और निर्मित प्रमाण ज्ञानी माने अज्ञानी को लेकर के कर्म नहीं करना चाहिए यदि तुमने कहा तब तो वो निराधार है गलत है अज्ञान जब तक है कर्म करना ही पड़ेगा माने मुमुक्षु को भी करना पड़ेगा इसके लिए अंतरम शुद्धि के लिए और ज्ञानी को लेकर के जो आपत्ति दे रहे हो तो वो हमारे लिए इष्ट है वो ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता क्यों शरीराभिमान नहीं है शरीराभिमान है तो जो कर्म करेगा शरीराभिमान के बिना कर्म हो ही नहीं सकता मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं ऐसी भावना जिसकी वो कर्म करेगा इसलिए कहा उत्पन्न विद्य से तो अनारंभ निरर्थकत्वाद इस भाष्य में कहा उत्पन्न विद्या से तो जिसके ज्ञान उत्पन्न हो गया उत्पन्ना विद्या यश यश उत्पन्न विद्या जिसको विद्या उत्पन्न हो गई ब्रह्माकार वृत्ति में जो पहुंच गया मनुष्याकार वृत्ति को छोड़कर ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंच गया है उसके लिए तो अनारंभ उसके लिए अनारंभ है ठीक है कर्म का आरंभ अच्छा है क्यों निरक्षक अथवा कर्म करेगी क्या फायदा उसको कुछ मिलना नहीं है और कर्म से कर्म होना संभव भी नहीं है ये कहा इसलिए ज्ञानी के दृष्टि से कर्म की निंदा की है कर्मणा बद्यते जंतुर विद्या चले तस्मात कर्म न कुरबंती यथया पारदर्शी ज्ञानकालीन बात है ये इस मंत्र को लेकर के आप कर्म छोड़ नहीं सकते तो ध्यान देना जब ज्ञानावस्था में पहुंच जाए तब यह स्थिति है कर्मणा बद्यते जंतु ऐसा कहा है कर्म से जंतु मैंने जीव बच जाता है मैंने स्वर्गीय शरीर या के शरीर आपसे बधेगा वो शरीर मिलना ही बढ़ना है उसको कर्मा बद्धते जम्बू ये जम्बू जीव कर्म से बन जाता है और विद्या से विमुचित विद्या मैंने ज्ञान ज्ञान से मुक्त हो जाता है ये कहा हुआ तस्मात कर्म अनुप्रबंधी इसलिए कर्म नहीं करते कौन क्या पारदर्शी तो पारदर्शिना जो पारदर्शी हो गए परम द्रष्टुम शीलम पारदर्शी परमात्मा को आत्मभाव से देखने का अनुभव करने का जिसका स्वभाव बन गया आत्मव्यता पुरुष उसको कहेंगे पारदर्शी उन वो लोग कर्म नहीं करते कहीं इस, इसका आड़ लेकर के हम कर्म छोड़े तो हमारे लिए हित कर्म नहीं होगा तो ध्यान हाँ। जब ज्ञान हो जाए तो कर्म का निंदा है वो कर्म जरूरत ही नहीं है से इतने भागवत एकादश में कहा है पाषा लोह मणिवृणमय विग्रहेशु पूजा पुनर्जन्म भोग करी मोक्ष हो तस्मात यदि इसको हृदयात्मवे कुरिया बाह्यात्मम परिहर अपनर्भवाय ऐसा एकादश में जाकर के बोला है माने जितने भी मूर्ति पूजा करते हैं ये कबीर लोग मूर्ति पूजा खंडन करते हैं या पर उसी ढंग का है किंतु ये ज्ञानावस्था की बात है हमारे देशों के लिए नहीं ज्ञानी की बात है पाषा लोह मणिमृणमय विग्रह से ये मूर्तियां जो होती है या तो पत्थर के होते हैं पाषाण की होती है अथवा धातु के होते हैं लोहा या मणियों के होंगे या मिट्टी के होंगे सीमेंट आदि से बनाएंगे पाषाण लोह मणिमय शो पूजा पुनर्जन्म भोग करेंगे मुमुक्षो जब हो तो दूसरे जन्म की तैयारी है पूजा करने से मूर्ति पूजा करने से ऐसा है तस्मात यदि स्वहृदया तनव पूजा जो यदि है प्रयत्नशील व्यक्ति आत्मव्यता किसकी पूजा करे अपने हृदय बने हृदय आत्मा ही सच्चिदानंद धन आत्मा होंगे पूजा करें आत्मा की पूजा कोई चंदन नक्षत्र से पूजा होने वाली नहीं है यही पूजा है हम सचिदान आत्मा अस्थित न हम देह न मे देह ऐसी पूजा आत्मा की बाह्याचरण परिहरित अपनर्भवाय है बाह्य बाह्य पूजा छोड़ दे पुनर्भव संसार बनाने के लिए किंतु ज्ञान अवस्था की बात है ध्यान देना हमारे देशों के लिए वो कानून लगने वाला है नहीं तो हम लोग और पतित हो जाएंगे कबीर जी एक पहुंच गए बहुत मैंने वेदांत के शिखर पर पहुंच गए पहुंचने के बाद मैंने पक्की आत्मवेत्ता हो गए तब वो लिखते बीजक लिख दिया कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजा पहाड़ ऐसा ये बीजक में आया उनके बीजक में बोलते हैं इस मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिलते हो तो ये छोटी सी मूर्ति की पत्थर की पूजा करो पहाड़ की पूजा करो ऐसा लिख दिया लिख दिया वो एक स्थिति में पहुंच चुके थे तब लिखा उन्होंने माने बाद में क्या होगा उनके अनुयायी की स्थिति गलत हो गई गुरु जी ने बोल दिया करके मूर्ति पूजा छोड़ दी अच्छा और इधर किसी मूर्ति के सामने हम जब जाते हैं तो भगवत दृष्टि कुछ होती है वहां पर बैठ करके कुछ हमारे आराधना करने की इच्छा होती है भगवान व्यापक है व्यापक है सर्वत्र मान बोलते हैं किंतु तो यहाँ हाथ जुड़ता है क्या या हाथ नहीं जुड़ता है जब उन मूर्तियों के सामने जाते हैं तो स्वतः हाथ जुड़ जाता है मैंने भगवत बुद्धि हो जाती है तो वो जो होना था थोड़ी तो बहुत उपासना बननी थी वहां तिलांजलि दे दी उन लोगों ने गुरु जी तो ऊपर पहुंच करके बोले थे अब ये ऊपर पहुंच हुए नहीं है क्या मान इधर के ना उधर के हो गए अब इनकी संप्रदाय ऐसी थी हाँ गुरु जी जितने किया उतने में पहुंच जाते तब बोलते तो अच्छी बात थी किंतु तो पहले बोलना नहीं चाहिए तो हमारे लिए अभी कर्म उपासनाएं जो आश्रम विहित कर्म उपासनाएं आवश्यक है आत्मज्ञान यदि वास्तव में आपको शरीर बुद्धि से अलग आप हो चुके हो तो आपके लिए कोई पूजा अर्चना आदि की जरूरत नहीं होगी ये यहां बोलना चाह रहे हैं कर्मणा बदते विद्या विमुचते तस्मान कर्म नगुरबंदी यतः पारदर्शन ये ज्ञान ज्ञानकालीन बात है जब आत्मगत्ता हो गया तब भाषिकार हो रहे वहां तो कर्म अनर्थक है तो कहा भी है कर्म बदते जंतु ये जीव कर्म से बच जाता है और विद्या जो है ज्ञान से मुक्त होता है तस्मात कर्म अनुकुलबंती इसलिए कर्म नहीं करते कौन यथा जो प्रयत्नशील व्यक्ति हैं कौन पारदर्शी परम वस्तु शिवम जैसा थे पारदर्शी परमात्मा को देखना जिनका स्वभाव बन गया अपने को शरीर भाव से नहीं देखते हैं आत्मभाव से देखते हैं उनके लिए कहा और भी कहा क्रिया तथा एवं प्रस्ताव संन्यास तय संन्यास एवं नारायण परिषद कहा बात पुरस्कार मैंने सृष्टि काले पूर्व में जो सृष्टि काल में ब्रह्मा जी ने दो मार्ग बना दिया कहते हैं भगवान ने दो मार्ग बनाया एक क्रिया और एक ज्ञान पथ संन्यास पथ मैंने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो मार्ग बनाए दो मार्ग के साथ साथ सृष्टि की है मैंने प्रवृत्ति क्रिया माने कर्म मार्ग यह है आपके प्रवृत्ति मार्ग और संन्यास माने निवृत्ति मार्ग दो बार के वृत्ति और उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है कहते तय हो तो कर्म और संन्यास के तुलना की उनमें संन्यास एवं प्रेत है त्यागना ही श्रेष्ठ है ऐसा कहा है त्यागना ही है किंतु तो पहले त्याग नहीं सकते आपने गीता के ष्ठ अध्याय पढ़ा होगा और गुणेर योगम कर्म कारण उच्चते योगारूढ़ से तस्व समकार जब आप आरुक्ष अवस्था में हैं अभी उसमें जाना चाह रहे हैं पहुंचे नहीं है माने ब्रह्म भाव में जाना चाहते हैं उसके लिए कारण क्या है कर्म निष्काम कर्म अपने आश्रम ही कर्म करना चाहिए आरुक्ष और योगम जो योग माने कर्मयोग जो है यह है साधन उसका और योगारूढ़ से तस्वीर जो आरूढ़ होता है जो योगारूढ़ होगा ज्ञान अवस्था में पहुंच जाएगा जब योग में आरूढ़ हो गया ज्ञान में आरूढ़ हो गया हम ब्रह्मास्त्र भाव में वास्तव में पहुंच गया है तो समाकार अनुचित उसको छोड़ना अच्छा त्यागना विचार होगा ये बताया वो गीता ऐसे यहां कहा और त्यागे घर के अमृतत्व मानसो वृद्धानुराया न करुणा प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस वृद्धा ने कहा है न प्रजया संतान पैदा करके कोई मुक्त नहीं हुआ कर्म करके कोई मुक्त नहीं हुआ न प्रजया करुणा धने न धन कमा कमा करके कोई मुक्त नहीं हुआ त्यागे न एक अमृतत्व आंश जो मुक्त चाहने वाले प्राप्त करके जो मुक्त पर किस किस साधन से एक त्याग रूपी साधन से त्याग मात्र साधन एक ही साधन है ऐसा कहा त्यागे में एक अमृतत्व आंश उस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए ऐसा और इधर शुक्ल यजुर्वेद में आता है नान्य पंथा विद्यते नायक वेदा अवेदम पुरुषम महंतम आदित्य बलम तमसा प्रस्ताव नाम पंथा विद्युत है उसी मंत्र में वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य परम तमसा पुरस्कार तमेव विदित्वा अतिवृत्ति वेती नान्य पंथा विद्यते नाय जो दुर्गाष्टा अध्याय में जो द्वितीय अध्याय में जो मंत्र है शुक्ल तो वेदा हमेतम इत्यादि कर कहा नान्य पंथा विद्यते ना उसको जाने बिना उस आत्मा तत्व को जाने बिना अन्य मार्ग है ही नहीं एक ही मार्ग है मोक्ष का साधन आत्मा को जानना अपने अपने को पहचानना अन्य पंथा न विद्यते अन्य कोई मार्ग नहीं है एक ही मार्ग है अपने को जान ये कहा है इत्यादि स्मृति इत्यादि स्मृति से सिद्ध होता है कि ज्ञान ही कर्म नहीं करेगा ज्ञान अवस्था में पहले कर्म करके ज्ञान में पहुंचा हुआ है अंतकर्म शुद्धि के साधन से किंतु वहां पहुंचने के बाद कर्म नहीं कर सकता इत्यादि कहा है और न्यायार्थ से युक्ति भी है कहते हैं न्याय से भी सिद्ध है ज्ञान होने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं है कहते हैं उपाय भूतान ही कर्माणी वो ज्ञान के उपाय थे कौन कर्म ज्ञान होने के बाद में साधन की जरूरत नहीं साधन मिल गया तो साधन की जरूरत नहीं है ये कहते उपाय भूतानि ही संस्कार ज्ञान से ज्ञान से उपाय भूतानि कर्माणी ज्ञान के साधन है कर्म किसके द्वारा संस्कार के द्वारा किसके संस्कार अंतकरण के संस्कार के माध्यम से अंतकरण की संस्कृत हो जाए तो तत्वशी आदि वाक्य वह पल्लवी तोड़ा नहीं तो दस बार सुनने बाद भी कुछ समय नहीं आएगा सुनेंगे सुनाएंगे अलग विषय है तो संस्कार द्वारा ज्ञान का यह साधन बन जाते कर्म का ज्ञान है ना तो अमृतत्व तो प्राप्ति अमृतत्व मोक्ष अमर भाव मैंने आत्मभाव की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगा हाँ, कर्म से नहीं कर्म से तो ज्ञान तक पहुंचाने का काम है किंतु मोक्ष ज्ञान से होगा क्यों अमृतत्व में विद्यते इसी उपनिषद में आने वाला है प्रतिबोध विद्यतम मतम अमृतत्व विद्यते आत्मना विद्युते दिव्यम विद्या विद्युते मतम इसी उपनिषद में आगे आने वाला है अमृतत्व में विद्यते ऐसा आएगा अमृतत्व को प्राप्त लाभ प्राप्त करता है विद्या विद्युते मृतम ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति करता है इत्यादि आया यही आने वाला है आगे जो द्वितीय खंड में आएगा प्रथम खंड में नहीं आएगा द्वितीय खंड में आएगा इत्यादि स्मृति स्मृति व्यस्त इत्यादि स्मृति वृत्ति से सिद्ध होता है कि ज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं ज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता है ये सिद्ध होता है कहा और युक्ति बताया था युक्ति बता रहे नहीं तद्या पारगो नामम न मुंचते यथेष्ट सगुणम प्रति स्वतंत्र सती कहते देखो भाई कर्म ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता कहते कैसे ये युक्ति दे रहे हैं जो तो नदी से पार को चला गया व्यक्ति नदी से पार हो चुका है युवती नदी पार हो गया नद्या पार हो नावम नमुंचती नौके को नहीं छोड़ता हो ऐसा होता है क्या यथेष्ट देश गमन प्रति जहां जाना होगा आगे दस बीस किलोमीटर आगे जाना होगा उसके लिए सिर पर नौका धोएगा वो साधन था नदी पार होने का हो गया यदि स्वातंत्र स्वतंत्र हो पराधीन हो तो ढोना भी पड़ेगा बोले ले चल तो चलिए भी चलना पड़ेगा तो यदि स्वतंत्र हो तो फिर नौके को सिर पर लेके नहीं जाएगा नदी पार होने पर इतने मात्र का साधन था ये जो कर्म है ज्ञान के लिए है मोक्ष के लिए आवश्यकता नहीं है ज्ञान ये मोक्ष तो ज्ञान देगा हित ज्ञान ऐसा समय हो गया है मेरा ओम आप्यायन्तु महाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः सर्वं ब्रह्मोपनिषदं स्नाहं ब्रह्मजातुर्यः मामा ब्रह्मजातरोजातरणस्त्वजाकरणेस्तु तदात्मनिजगते य मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः